लंका पर मैं चढ़ आया हूँ हेता तुम्हारे ही बल पर मेरा जय का संपूर्ण भार हे भ्रात तुम्हारे ही बल पर करता है काम और कोई पर नाम और का चलता है जलता तो है रोगन कपड़ा कहते हैं दीपक जलता है एक बात है और भी एक और भी काज भक्त विभीषण को दिया है लंका का राज है सोच नहीं अब सीता का दुख नहीं तुम्हारे जाने का संकोच नहीं इस विपदा में अपने भी प्राण गंवाने का कुछ चिंता है तो यह है अब पकड़े बाह विभीषण के हे भाई उठ कर पार करो यह नौका रघुवर के प्रण की और आ रहा ध्यान कुछ इसे दुख के साथ माता ने चलते समय पकड़ाया था हाथ मैं बिना तुम्हारे हे भैया किस तरह अवधपुर जाऊंगा माँ पूछेगी तब लक्षण कहाँ तो क्या कह कर समझाऊंगा उस छाती से उस गोदी से ज्वाला भड़बड़ा उठेगी जब जलहीन मीन से व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी जब तो बतलाओ लक्ष्मण भैया कैसे न जलेगा जगत वहाँ बच सकते फिर क्या लपटों से शत्रुहन और श्री भरत महाम तुम इस मूर्छा में मरते हो सीता मरती है लंका में माता या रहे सहे भ्राता मरते हैं उधर अयोध्या में इतने को अगर मारना हो तो अपने प्राण तजो भैया अन्यथा सबों के जीवन हित जल्दी से जाग उठो भैया भाई को खो कर मिला अगर विजय का हार तो यह बढ़कर हार से हैरण का उपहार धिक्कार इस तरह लड़ने पर जिसमें यह पुण्य कमाया है लक्ष्मण से प्यारे भाई को नारी हेतु गवाया है मरने वाले का लाल रुद्र काला जो पड़ जाता है वह मेरे हेस करने के कालेपन को दिखलाता है दुनिया देखेगी लखन राम कर्तव्य धर्म के रक्षण में पर राम मरा कायरता में अपने ही भीतर के रण में यह जाता है ऊंचे सिर से पर मैंने चा सिर किए पत्नी के हित भाई खोया काला कलंक यह लिए हुए रग रग में काटे चुभे इस विचार के साथ मूर्छित फिर कुछ समय को हुए अयोध्यानाथ अब की जो आंखें खुले तो देखी यह बात प्रात पवन चलने लगा रही बहुत कमरात जामवंत सुग्रीम को बैठा कर निज पास बोल उठे फिर इस तरह हो अत्यंत उदास जब लक्ष्मण ही नहीं तो जीने से है क्या काम बंधुवर हो तुमसे विदा होता अब राम अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना अपने उपकारों के घट को फिर आज और भरते जाना अंतिम इच्छा इस राघव के इस भांति पूर्ण करते जाना इतना करना हम दोनों की छातियाँ मिला देना भाई इतना करना हम दोनों की छातिया मिला देना भाई एक ही वस्त्र में दोनों को कस कर लिपटा देना भाई यदि चिता बनानी मुश्किल हो तो जल में यही बहा देना जलनिधि के कंठिल जलनिधि की ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना जलनिधि के ठंडी लहरों में दोनों को साथ सुला देना दोनों के रुधिरों से इतना लिख देना सागर के तट पर दोनों के रुद्रों से इतना लिख देना सागर के तट पर भाई भाई के यादगार है भाई भाई की यादगार है इसी सागर के मरघट पर भाई भाई की यादगार है इस सागर के मरघट पर भाई कोई मुझे यह बताए किसने दुनिया में दुख ऐसे आई भाई कोई मुझे बताए किसने दुनिया में दुख ऐसे पाई किस पे यू बद्र भीषण गिरा है किसका यू छोटा भाई मरा है देश से ही विदेशों में आना युद्ध भी ऐसा भीषण ठाना किसको दिन देखना ये पड़ा है किसका यू छोटा भाई मरा है भाई कोई मुझे यह बताए किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए जो कि बे बाप कहो वनों में जिसके माँ फूट डाले घरों में कौन ऐसा अभागा दिया है किसका यो छोटा भाई मरा है जिसको गद्दी के बदले कुटिया हो जिसके नारी हरी जा चुकी हो ऐसा राजा भला कौन सा है किसका यूं छोटा भाई मरा है जिसके माता सगी रो रही हो जिसके भ्राता वो में बेकली हो कोई ऐसा नहीं दिखता है किसका यूं छोटा भाई मरा है जिसने पग में संकट उठाया सारे जीवन सुख चैन पाया ऐसा पत्थर का किसका जिया है किसका यू छोटा भाई मरा है अंत में देखी ऐसी घड़ी हो लाश भाई की आगे पड़ी हो कौन इतने भी जी रहा है किसको यो छोटा भाई मरा है भाई को ये मुझे बताए किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए किस पे यो वज्र भीषण गिरा है किसका यो छोटा भाई मरा है दुनिया में दुख ऐसे पाए किसने किसने दुनिया में दुख ऐसे पाए अति व्याकुल थे जिस समय लीला में भगवान तभी लालिमा युक्त कुछ देख पड़ा ईशान